हम्म। बीते दो दिनों में मनुष्य के मन पर कौन सी जंजीरें हैं उन जंजीरों में से दो जंजीरों की हमने बात की आज तीसरी जंजीर की बात करेंगे पहली जंजीर इस बात की है ये बोध ये भ्रम ये ख्याल कि मैं जानता हूं ज्ञान का भ्रम मनुष्य के मन की कारागृह की पहली ईंट दूसरा मैं करता हूं कर्म का मालिक हूं अपना मालिक हूं ये भाव भी एकदम भ्रांत और झूठा है ये दोनों बातें हमने विचार की आज तीसरी और सर्वाधिक कठिन बात पर हम विचार करेंगे शायद ये दो बातें ख्याल में भी आई हो तीसरी बात ख्याल में आनी और भी थोड़ी मुश्किल है लेकिन जिन लोगों ने दो सीढ़ियों को समझा है वे जरूर ही तीसरी भी समझ सकेंगे मैं जानता हूं ये भ्रम है मैं करता हूं ये भ्रम है और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं हूं मेरा होना मेरा होना सबसे बड़ा भ्रम मैं हूं ये मनुष्य के जीवन का केंद्रीय है भ्रम है केंद्रीय असत्य है और इसी असत्य के आसपास वो जीता है इसलिए जो जीवन खड़ा होता है वो सारा जीवन ही मिथ्या और झूठ हो जाता है इस संबंध में हम आज की सुबह बात करेंगे मैंने कहा कठिन होगी ये बात ख्याल में लानी क्योंकि इसे तो हमने जन्म के साथ ही स्वीकार कर लिया है कि मैं हूं और हमने न इस पर कभी विचारा न इसकी कभी खोज की कि ये मैं क्या है ये है भी या नहीं ये मैं कौन हूं न हमने इसे खोजा न सोचा न हमने इसका कोई अनुसंधान किया हमने इसे मान लिया है हमने इसे स्वीकार कर लिया है ये स्वीकृति हमारी एकदम अंधी है ये तो इस बात से ही ज्ञात हो जाएगा कि हमें पता नहीं है कि मैं कौन जिस मैं को हम माने हुए बैठे हैं उसका हमें कोई भी पता नहीं है कि वो क्या है और जिस चीज का हमें पता ही ना हो कि वो क्या है उसे मान लेना अंधा तो होगा ही लेकिन सामान्यतया हमने कुछ काम चलाओ ख्याल पैदा कर लिए हैं जिनसे हमें लगता है कि मैं हूं ये हूं वो हूं एक छोटी सी कहानी कहूं और उससे ही अपनी चर्चा शुरू करूं एक रात एक सराय में एक नया मेहमान आया सराय भरी हुई थी रात बहुत बीत चुकी थी उस गांव के दूसरे मकान बंद हो चुके और लोग सो चुके थे सराय का मालिक भी सराय को बंद करता था तभी वो मेहमान अपने घोड़े को लेकर वहां पहुंचा और उसने कहा कुछ भी हो कहीं भी हो मुझे रात भर टिकने के लिए जगह चाहिए ही इस अंधेरी रात में अब मैं कहा खोजू और कहा जाऊं सराय के मालिक ने कहा ठहरना तो हो सकता है लेकिन अकेला कमरा मिलना कठिन है एक कमरा है उसमें एक मेहमान अभी अभी आके ठहरा है वो जागता होगा क्या तुम उसके साथ ही उसके कमरे में सो सकोगे वो व्यक्ति राजी हो गया एक कमरे में दो मेहमान ठहरा दिए गए जो नया मेहमान आया था वो अपने बिस्तर पर लेट गया न तो उसने जूते खोले न अपनी पगड़ी निकाली न अपना कोट अलग किया वो सब कपड़े पहने हुए लेट गए दूसरा आदमी जो वहां ठहरा हुआ था उसे हैरानी भी हुई लेकिन अपरिचित आदमी से कुछ कहना ठीक न था वो चुप रहा लेकिन जो आदमी पगड़ी बांधे ही सो गया था वो करवटें बदलने लगा और नींद आनी उसे कठिन हो गई दूसरे मेहमान ने अंततः संकोच तोड़ा और उसने कहा मित्र अगर बुरा न माने तो मैं सोचता हूं आपको इसीलिए नींद नहीं आ पा रही है कि आप जूते पहने हैं सारे कपड़े पहने हैं पगड़ी बांधे हुए ऐसे कभी कोई सोया है थोड़े शिथिल हो जाएं, थोड़े इन कपड़ों को अलग कर दें थोड़े आराम से हो जाएं तो शायद नींद आ जाए वह आदमी उठ के बैठ गया और उसने कहा मैं भी सोचता हूं कि कपड़े अलग कर दूं जूते अलग कर दूं लेकिन एक बड़ी कठिनाई है उस वजह से मैं अलग नहीं कर पा रहा हूं अगर मैं अकेला होता इस कमरे में तो मैं कपड़े अलग कर देता पगड़ी अलग कर देता आराम से सो जाता लेकिन तुम भी हो तो आदमी ने कहा मेरे होने से क्या कठिनाई वो व्यक्ति बोला कठिनाई ये है कि अगर मैंने अपने सारे कपड़े उतार के रख दिए तो सुबह मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन हूं कपड़ों के कारण ही तो मैं पहचानता हूं कि मैं कौन हूं अगर अकेला होता तो मैं समझ जाता कि मैं वही हूं और ये कपड़े मेरे हैं लेकिन यहाँ दो आदमी हैं और रात भर की नींद के बाद जब मैं उठूंगा तो ये तय कैसे होगा कि मैं कौन हूं और ये कपड़े किसके आदमी बहुत हैरान हुआ उसने कहा आश्चर्य की बात है क्या आप अपने को अपने कपड़ों से पहचानते हैं उस आदमी ने कहा मैंने आज तक एक आदमी ऐसा नहीं देखा जो कपड़ों के अलावा और किसी चीज से अपने को पहचानता हो कपड़ों से ज्यादा पहचान किसी की गहरी नहीं है भीतर कौन है उसे तो कोई भी नहीं जानता बाहर जो है उसे को हम सब जानते हैं वो तो कपड़े से ज्यादा नहीं है आदमी ने तो बात बड़ी अद्भुत कही वो दूसरे व्यक्ति ने कहा तब एक काम करें नींद तो लेनी जरूरी है और आपने जो मसला उठा दिया वो बहुत कठिन है अब एक ही रास्ता है और आप न सो पाए तो मैं भी न सो पाऊंगा उस कमरे में उन दोनों मेहमानों के पहले जो लोग ठहरे होंगे उनके बच्चे खेलने की एक गुड़िया और एक फुग्गा छोड़ गए थे और दूसरे आदमी ने इस पगड़ी बांधे वाले आदमी से कहा आप कृपा करें कपड़े उतार दें ये गुब्बारा पड़ा हुआ है इसको अपने पैर में बांध लें और ये गुड़िया अपने बिस्तर पर रख लें ये आपके चिन्ह हो जाएंगे सुबह जब आप उठेंगे तो आप जान लेंगे कि मैं कौन हूं और अपने कपड़े पहन लेना ये बात तय हो गई उस आदमी ने कपड़े उतार दिए पैर में गुब्बारा बांध लिया और गुड़िया पास रख ली और सो गया थोड़ी देर बाद लेकिन उस दूसरे आदमी को मजाक सूझी और सोए हुए आदमी के पैर से गुब्बारा निकाल के उसने अपने पैर में बांध लिया और उसकी गुड़िया उठा के अपने बिस्तर पर रख ली कोई चार बजे रात वो आदमी घबरा के उठा और जोर से चिल्लाने लगा और दूसरे आदमी को उसने हिला के उठाया और कहा कि मेरे मित्र मैंने जो कहा था वो गड़बड़ मालूम होता है हो गई कठिनाई खड़ी हो गई मेरा नाम मुल्ला नसरुद्दीन था जब मैं कपड़े पहने हुए था मैं जानता था कि मैं मुल्ला नसरुद्दीन तुमने कहा था कि पैर में गुब्बारा बांध लो वो गुब्बारा कहाँ है वो तुम्हारे पैर में बंधा हुआ है वो गुड़िया तुम्हारे पास रखी हुई इससे तय हो गया कि तुम मुल्ला नसरुद्दीन हो लेकिन मैं कौन हूं अब अब मैं कौन हूं ये बड़ी मुश्किल हो गई पहचाननी और अब इस जिंदगी में बड़ी कठिनाई हो जाएगी आइडेंटिटी खो गई मेरा नाम खो गया मेरा व्यक्तित्व खो गया ये कहानी बड़ी अनूठी मालूम पड़ती है लेकिन आपको भी शायद पता नहीं है आपके कपड़े छीन लिए जाएं, आपकी पदवियां छीन ली जाएं, आपका नाम छीन लिया जाए तो आप क्या रह जाएंगे आपकी आइडेंटिटी भी खो जाएगी आपका व्यक्तित्व भी खो जाएगा आप भी खड़े हो जाएंगे ना कुछ नो बडी जिसकी कोई पहचान नहीं जिसकी कोई रिकग्निशन नहीं जिसका कोई नाम नहीं जिसका कोई ठिकाना नहीं हम अपने मैं को कैसे पहचानते हैं कौन से रास्तों से पहचानते एक सम्राट ने एक महाकवि को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया था तो वो कवि दरिद्र था वो अपने फटे पुराने कपड़ों को पहनकर पहुंच गया लेकिन द्वार पर खड़े द्वारपालों ने उसे वापस लौटा दिया और कहा भाग जाओ सम्राटों से मिलने योग तुम्हारी सूरत नहीं मालूम होती बात सच थी वो कोई भिकमंगा मालूम पड़ता था वो वापस लौट आया उसने अपने मित्रों को कहा मित्रों ने कहा तुम पागल हो सम्राटों के द्वार पर आदमी नहीं कपड़े पहचाने जाते सच्चाई तो यह है कि किसी द्वार पर आदमी नहीं पहचाने जाते हर द्वार पर कपड़े पहचाने जाते तुम व्यर्थ ही दरिद्र कपड़े पहनकर वहां पहुंच गए अगर एक मुर्दा आदमी भी अच्छे कपड़े पहन के पहुंच जाता तो उसका स्वागत होता क्योंकि कपड़े दिखाई पड़ते हैं आदमी तो दिखाई पड़ता नहीं और आदमी का पता किसको है कि आदमी क्या है कपड़े दिखाई पड़ते हैं कपड़े पहचाने जाते हैं कपड़े सब कुछ उस कवि की बुद्धि में बात आ गई उसने उधार कपड़े मांगे मित्रों से और अच्छे कपड़े पहनकर वो थोड़ी देर बाद वापस उसी द्वार पर पहुंच गया संतरी भागे हुए आए राजा को खबर दी गई राजा खुद द्वार पर महाकवि को लेने आया उसके हाथ में हाथ डालकर वो भीतर गया उसे भोजन पर बिठाया बहुत स्वर्ण की थालियों में बहुत बहुमूल्य भोजन आए वो महाकवि वो राजा आमने सामने बैठे उस राजा ने कहा शुरू करें भोजन कृपा करें उस कवि ने कहा शुरू करूं भोजन उठाया और अपने कोट से बोला मेरे कोट तू पहले भोजन कर ले अपनी पगड़ी को भोजन लगाया और कहा तू भोजन कर ले अपने जूते को भोजन लगाया राजा ने कहा महानुभाव बड़ी अजीब आते हैं आपकी भोजन शुरू करने की ऐसी आदतें मैंने कभी देखी नहीं ये क्या कर रहे हैं आप उस कवि ने कहा मैं तो पहले भी आया था लेकिन द्वार पर जगह न मिल सकी अब जिन कपड़ों के कारण द्वार खोले हैं अगर उन्हें भूल जाऊं तो बड़ी अशिष्टता होगी ये कपड़े हकदार हैं पहले भोजन कर लेने के यही मुझे यहाँ लाए हैं सच तो ये है यही यहाँ आए हैं मैं कहा हूं क्योंकि मैं तो पहले भी आया था लेकिन द्वार बंद पाए थे कपड़ों से आदमी पहचाना जाता है दूसरे पहचानते हो ये तो ठीक है हम खुद भी अपने को अपने ही कपड़ों से पहचानते एक यहूदी मित्र ने जो जर्मनी से भारत की यात्रा पर आया मुझसे एक बात कही उस समय ये कह रहा था उस समय ये कह रहा था कि आदमी अभी कपड़ों के ऊपर नहीं उठ सका आत्मा की बात बहुत दूर है उसने अपनी एक घटना सुनाई हिटलर के जमाने में वो जर्मनी के एक जेल खाने में बंद रहा यहूदियों की हत्या की हिटलर ने 500 यहूदी रोज मारे जाते रहे अकेले हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदी मारे 500 यहूदी रोज नियमित हत्या करने की योजना रही वो भी यहूदी था वो भी पकड़ लिया गया था ये बिल्कुल संयोग की बात थी कि वो बच गया है क्योंकि वो आखिरी दिनों में पकड़ा गया और उसके मरने की लिस्ट थोड़ी दूर थी और युद्ध समाप्त हो गया उसने मुझे बताया कि जब मैं पहली दफा ले जाया गया तो मेरे साथ कोई 2000 यहूदी और थे हम सारे लोगों को जेल में ले जाके सबसे पहला काम यह किया गया कि हमारे सारे कपड़े छीन लिए गए हम नग्न कर दिए गए 2000 लोग नग्न कर दिए गए फिर हमारे सिर घोंट डाले गए हमारी मूछे बना दी गई हमारे सारे बाल साफ कर दिए गए और तब उसने कहा कि मैं इतना घबरा गया आप ठीक कहते हैं 2000 नंगे और सिर घुट्टे लोगों में पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन कौन जो अपने मित्र थे वो भी समझ में नहीं आने लगे कि ये कौन खुद को आईने में देख के शक होने लगा कि ये मैं मैं ही हूं कपड़ों ने और कपड़ों से मेरा मतलब बहुत सी बातों से है जो कपड़े हम पहने हुए हैं वो तो कपड़े हैं ही हमने और तरह के कपड़े भी पहन रखे पद के पदवियों के वंशों के नामों के परिवारों के वो भी हमारे कपड़े वो भी हमने ओढ़ रखे एक आदमी मिनिस्टर हो जाए तो बड़े ऊंचे कपड़े मन पर उसके ओढ़ लिए जाते हैं एक आदमी राष्ट्रपति हो जाए तो उसकी आत्मा पर बड़ी गहरे लबादे ओढ़ लिए जाते हैं और उसकी राष्ट्रपति को नीचे उतार लो उसकी कुर्सी से उसके कपड़े छिन जाएंगे वो ना कुछ हो जाएगा उसे फिर कोई पूछेगा नहीं कोई फिक्र नहीं करेगा बहुत तरह के तरह के कपड़े हमारे हमारे ऊपर इकट्ठे हैं और इन्हीं कपड़ों को हम समझते हैं मेरा होना मेरा अस्तित्व मैं धन हो पद हो यश हो पदवी हो प्रतिष्ठा हो तो मेरा मैं मजबूत हो जाता है न हो तो मेरा मैं छोटा हो जाता है छीण हो जाता है मरते वक्त नेपोलियन हार चुका था युद्ध में और एक छोटे से दीप सेंट हेलेना में उसको बंद कर दिया गया अब नेपोलियन उन थोड़े से लोगों में से था जिन्होंने सारी जमीन को हिला दिया जिन्होंने पहाड़ों से कहा हट जाओ तो पहाड़ों को हट जाना पड़ा जिन्होंने कौमों से कहा मिट जाओ तो कौमों को मिट जाना पड़ा उन थोड़े से लोगों में एक था आखिरी वक्त हार गया और हेलना में बंद कर दिया गया पहले ही दिन सुबह उठ के वो घूमने निकला एक छोटी सी पगडंडी पर उसका मित्र उसका डॉक्टर उसके साथ था छोटी थी सकरी थी पगडंडी उस तरफ से घास लेने वाली औरत घास का गट्ठा सिर पर लिए हुए आती थी नेपोलियन के डॉक्टर मित्र ने चिल्ला के कहा घसियारन रास्ता छोड़ दे देखती नहीं कौन रास्ते पर आ रहा है लेकिन नेपोलियन ने कहा मेरे मित्र तुम भूल करते हो रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए अब नेपोलियन कहा है अब मैं कौन हूं एक कैदी से ज्यादा नहीं और नेपोलियन छोड़ के रास्ता खड़ा हो गया और उसने कहा घास वाली को निकल जाने दो वो कुछ है मैं तो कुछ भी नहीं मैं नेपोलियन था कल तक और मैंने पांव से कहा होता रास्ते से हट जाओ तो पहाड़ हट गए होते लेकिन आज आज मैं क्या हूं एक घास वाली फिर भी कुछ है मैं तो कुछ भी नहीं ना कुछ नोबडी मुझे हट जाने दो वो नेपोलियन हट गया ये नेपोलियन कल तक सब कुछ था आज ना कुछ कैसे हो गया क्या छिन गया इसके पास से इसके वस्त्र छिन गए इसके कपड़े छिन गए इसकी कुर्सी छिन गई अब ये ना कुछ है हम सारे लोगों को भी ये जो ख्याल है कि मैं कुछ हूं क्या ये हमें पता है कि हम क्या हैं उसका ये ख्याल है या केवल उन वस्त्रों का जो हमने पहन रखे हमने जो वस्त्र पहन रखे हैं हमने जो नकाब ओढ़ रखे हमने जो मुखौटे पहन रखे हमने जो नाटक और अभिनय सीख लिया है वही है हमारा मैं या कुछ और भी है कोई और गहरा परिचय है या इसी से परिचय है अगर इसी से परिचय है तो ये बड़ा झूठा मैं है और इसे छोड़ देना जरूरी है ये मैं ये मेरे होने का भाव अत्यंत मिथ्या है इसकी कोई सत्ता नहीं ये प्याज की भांति है हम प्याज के छिलके निकालते चले जाएं, निकालते चले जाएं, अखीर में क्या बच रहता है बस छिलके निकल जाते हैं और निकल जाते हैं और भीतर कुछ भी नहीं वस्त्र ही वस्त्र है प्याज में उसके भीतर कुछ भी नहीं है ऐसा ही हमारा ये मैं है इसमें वस्त्र ही वस्त्र निकालते चले जाए निकालते चले जाए भीतर बच रहता है ना कुछ भीतर कुछ पता नहीं चलता कि क्या है क्या है आप उसको थोड़ा छीलना शुरू करें उसके कपड़े निकालना शुरू करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर रह गया शून्य वहां किसी मैं का कोई पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं इसलिए तो कोई भीतर नहीं जाना चाहता हम बातें इतनी सुनते हैं कि अपने को जानो भीतर जाओ सुन लेते हैं लेकिन कभी भीतर जाना नहीं चाहते क्योंकि भीतर जाने में बड़े प्राणों पर संकट आ जाएगा खुद की चमड़ी निकाल निकाल के अलग करनी होगी तभी तो कोई भीतर जा सकता है ये जितने वस्त्र हमने पहन रखे हैं अपने मह के आसपास हमने जो सजावट कर रखी है वो उखाड़ देनी पड़ेगी तभी तो हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं उसको उखाड़ने में कोई भी डरता है घबराता है वही तो मैं हूं इसलिए भीतर जाने में एक भय एक फियर एक चिंता एक संताप मालूम होता है आज की सुबह इस मैं की परतों को उखाड़ने का ही हम काम करेंगे इस मैं की प्याज के छिलकों को अलग करने की कोशिश करेंगे ताकि भीतर जाया जा सके और जाना जा सके कि वहां क्या है वहां कौन छिपा है कौन सी सत्ता कौन सी आत्मा वहां निवास करती आत्मा को जानने के पहले मैं की परतों को उखाड़ लेना जरूरी है जैसे कोई कुआ खोदता है मिट्टी निकालता है पत्थर निकालता है खोदता है जमीन को अर्थ परत जमीन को अलग करता है ताकि भीतर छिपे जल के स्रोत उपलब्ध हो सके ऐसे ही मनुष्य की आत्मा की खोज में भी खुदाई करनी होती है और मैं की बहुत सी परतें जो कि जमीन की भांति आत्मा के जल को घेरे हुए हैं उन्हें तोड़ना पड़ता है और निकालना पड़ता है और जब सारी मैं की परतें उखड़ जाती हैं तब जो शेष रह जाता है वही आत्मा है वही मैं हूं मैं की झूठी परतों को जो उखाड़ने में समर्थ होता है वही सच्चे मैं को जानने में समर्थ हो पाता है और जो मैं की परतों को मजबूत किया जाता है वो सदा के लिए आत्मा से दूर हो जाता है हम सारे लोग मैं की परतों को मजबूत करने में लगे रहते हैं छोटा मकान मैं को उतनी मजबूत परत नहीं देता बड़ा मकान और मजबूत परत देता है इसलिए छोटे मकान से बड़े मकान की दौड़ चलती है थोड़े रुपए मैं को मजबूती नहीं देते बहुत रुपए मैं को मजबूती देते हैं इसलिए थोड़े रुपयों से बहुत रुपयों की तरफ दौड़ चलती है एंड्रू कार्नेगी मरा अमेरिका का एक अरबपति मरते वक्त उसके पास कोई चार अरब रुपए थे चार अरब रुपए बहुत रुपए लेकिन दूसरे के पास हो तो अगर खुद के पास हो तो बहुत कम है अगर आपके पड़ोसी के पास चार अरब रुपए हैं तो आपको लगेगा बहुत है लेकिन अगर आपके पास हो तो आपको लगेगा क्या है केवल चार अरब ही तो है इंदू मरा उसके पास चार अरब रुपए थे उसकी जीवन कथा लिखने वाले एक लेखक ने उससे मरने के दो दिन पहले पूछा कि मित्र तुम तो तृप्त हो गए हो गए तुम्हारे पास तो अटूट और अपार संपत्ति है एंड्रू कार्नेगी ने कहा क्या कहते हो दस अरब की मेरी योजना थी मैं एक असफल आदमी हूं केवल चार अरब कमा पाया मैं दुखी हूं मैंने जितना चाहा था मैं उतना नहीं कमा पाया अमेरिका में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दस अरब रुपया भी है एंड्रू कार्नेगी के पास चार अरब रुपए का होना कोई सुख का कारण नहीं है लेकिन अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनके पास दस अरब रुपया है ये दुख का कारण जरूर है क्यों है ये दुख का कारण जिनके पास दस अरब है उनका अहंकार और भी प्रगाढ़ और मजबूत है एंड्रू कार्नेगी उनके सामने छोटा है वो बड़े है उनकी अस्मिता उनकी ईगो और मजबूत है जो कार्नेगी की बेचारे की थोड़ी छोटी है उसके पास केवल चार अरब रुपए है कार्नेगी दुखी मरा दुनिया में कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता अहंकार किसी को सुखी नहीं होने देगा क्योंकि अहंकार की सतत मांग ये होती है और आगे और आगे क्योंकि जितना मिल जाता है वो तो अहंकार उसे आत्मसात कर लेता है और उसकी भूख खड़ी हो जाती है और आगे चाहिए उसकी कोई तृप्ति नहीं है तृप्ति इसलिए नहीं है कि अगर अहंकार कोई वास्तविक चीज होती तो उसकी तृप्ति भी हो सकती थी वो बिल्कुल छाया है छाया की कभी कोई तृप्ति नहीं हो सकती एक राजमहल के द्वार पर एक सुबह बहुत भीड़ लग गई थी एक भिखारी आया था और उसने अपना भिक्षा पात्र राजा के महल के द्वार के सामने फैलाया और राजा से उसने कहा मुझे भिक्षा मिल सकेगी उस राजा ने कहा जिस द्वार पर तुम खड़े हो वहां से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता क्या चाहते हो जो चाहोगे मिल सकेगा लेकिन उस भिक्षु ने कहा सवाल ये नहीं है कि क्या मैं चाहूं मेरी शर्त दूसरी है और आज तक मेरी शर्त कोई पूरी नहीं कर पाया एक भिखारी राजा से ऐसा कहे तो राजा के अहंकार को चोट लग जानी स्वाभाविक है राजा ने कहा तुम पागल हो क्या तुम्हारी शर्त है बोलो हम पूरा कर देंगे उस भिखारी ने कहा बड़ी छोटी है मेरी शर्त लेकिन पूरा करने का वचन देने के पहले बहुत सोच लेना ये जो भिक्षा पात्र है मेरे पास जो तुम्हें देना हो मिट्टी देनी हो मिट्टी सही लेकिन एक शर्त स्वीकार करता हूँ मेरा पूरा पात्र भर देना अधूरा मत रखना खाली मत रखना चाहे मिट्टी डाल देना तो राजी हूं लेकिन अधूरा पात्र लेके वापस न जाऊंगा पात्र पूरा भरना पड़ेगा राजा हंसने लगा छोटा सा पात्र था और राजा के पास क्या थी कमी सारी जमीन जीत चुका था उसने अपने मंत्रियों को कहा जाओ हीरे जवाहरातों से इसके पात्र को भर दो ये भी याद रखे कि राजाओं के द्वार पर मिट्टी दान में नहीं मिलती और क्या छोटी सी तेरी मांग है कि पात्र को पूरा भर दो और पात्र ही लाना था तो कोई बड़ा ले आना था भिक्षु लेकिन खड़ा मुस्कुराता रहा सदा ऐसा हुआ है भिक्षु हमेशा राजाओं पर मुस्कुराते रहे लेकिन बहुत कम राजा समझ पाए हैं कि भिक्षु क्यों मुस्कुराते वो भिक्षु मुस्कुराता रहा वजीर भर कर ले आए हीरे जवारात बहुत ज्यादा ले आए थे पात बहुत छोटा था ताकि भिक्षु देख ले और उसकी आंखें समझ ले कि किसके द्वार पर वो आ गया और वे हीरे जवारात उस पात्र में डाले गए लेकिन भिक्षु हंसता रहा वो हतप्रभ न हुआ उस चमक को देखकर और थोड़ी देर में राजा की मुस्कुराहट खो गई आंखों की रोशनी जाने लगी भिक्षु का पात्र कुछ अजीब था जितना भी उसमें डाला गया खो गया उसे भरना कठिन हो गया खजाने खाली होने लगे सुबह बीत गई दोपहर आने लगी नगर भर में खबर पहुंच गई भीड़ बढ़ने लगी द्वार के समक्ष राजधानी इकट्ठी होने लगी भिक्षु खड़ा था और हंस रहा था और राजा की हंसी समाप्त हो गई थी और वजीर भागे हुए तिजोड़ियों से सोने चांदी को लाने लगे हीरे जवाहरात चुप गए थे सोना चांदी डाला जाने लगा लेकिन पात्र था अजीब भरता नहीं था जो भी डाला जाता था खो जाता था उसमें सांझ हो गई और राजा हार गया असल में सांझ होते होते कौन राजा हार नहीं जाता है सभी हार जाते सांझ हो गई राजा हार गया और पैरों पर गिर पड़ा उस भिखारी के और कहा क्षमा कर दो भूल हो गई हमसे कैसा है ये भिक्षा पात्र तुम्हारा क्या है जादू इसमें देखने में इतना छोटा और भरने में इतना अपूर्व इतना दुष्पूर्व खजाने मेरे खाली हो गए और तुम्हारा पात्र खाली का खाली है कहा गया सब जो इसमें डाला गया क्या है इसका रहस्य क्या है मिस्ट्री वो भिक्षु बोला कोई रहस्य नहीं कोई जादू नहीं एक मरघट से निकलता था एक आदमी की खोपड़ी मिल गई उसी से मैंने ये भिक्षा पात्र बना लिया और ये तो आप जानते हैं आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती इसलिए भिक्षा पात्र भी कभी नहीं भरता बहुत राजा इस भिक्षा पात्र के सामने हार चुके हैं ये कभी नहीं भरा है और ये कहानी कुछ ऐसी नहीं है कि किसी एक महल के द्वार पर घट के समाप्त हो गई हो ये हर आदमी के द्वार पर रोज घट रही है हम अपनी अपनी खोपड़ी के भिक्षा पात्र में भरने में लगे कभी भरता नहीं भर नहीं सकता भरने का कोई उपाय नहीं कारण है कुछ न भरने का कुछ कारण है और वो कारण ये है कि जो चीज हो वो भरी भी जा सकती है लेकिन जो हो ही ना उसे कैसे भरा जा सकता है जो चीज हो उसे भरा जा सकता है लेकिन जो हो ही नहीं उसे कैसे भरा जा सकता है जिसका अस्तित्व हो उसके साथ कुछ किया जा सकता है उसे भरा जा सकता है खाली किया जा सकता है लेकिन जिसका कोई अस्तित्व न हो जिसका होना केवल कल्पना हो उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता जैसे इस कमरे में अंधकार भरा हो और हम सारे लोग अंधकार को निकालने की कोशिश करें तो क्या हम अंधकार को निकाल पाएंगे हम कितनी ही गठरिया बांधे गठरिया बाहर चली जाएंगी अंधकार यहीं रह जाएगा हम कितने ही धक्के दें और पहलवानों को लिबा लाए पहलवान थक जाएंगे और अंधकार यहीं रहेगा अंधकार को निकाला नहीं जा सकता अंधकार को लाया जा सकता है न निकाला जा सकता न लाया जा सकता अगर हम सारे लोग निकल पड़े कि चलो आज थोड़ा थोड़ा अंधकार ले आए इस कमरे में भरने को सांझ को हम खाली हाथ वापस लौट आएंगे अंधकार कोई भी ला नहीं सकेगा न अंधकार लाया जा सकता न निकाला जा सकता क्यों क्योंकि वस्तुता अंधकार है ही नहीं उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी कोई सत्ता नहीं है वो केवल दिखाई पड़ता है है नहीं हाँ प्रकाश लाया जा सकता है और प्रकाश आ जाए तो अंधकार विलीन हो जाता है विलीन हो जाता है ये कहना भी गलत है क्योंकि जो था ही नहीं वो विलीन कैसे होगा उचित होगा यही कहना कि प्रकाश होते ही पाया जाता है कि अंधकार नहीं है और प्रकाश बुझते ही पाया जाता है अंधकार है अंधकार फिर क्या है अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है एब्सेंस अंधकार की अपनी कोई प्रेजेंस अपनी कोई उपस्थिति नहीं है अंधकार की वो खुद नहीं है वो किसी का न होना है वो किसी की गैर मौजूदगी है वो किसी की एब्सेंस है वो किसी की अनुपस्थिति है खुद का उसका कोई होना नहीं है इसलिए अंधकार के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते न हम उसे ला सकते न निकाल सकते अंधकार के साथ डायरेक्ट एक्शन नहीं हो सकता कोई सीधा कृत्य नहीं हो सकता अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है उल्टे रास्ते से इनडायरेक्ट जाना पड़ता है अंधकार की ही तरह है हमारा अहंकार उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है इसलिए अहंकार को न तो कोई भर सकता और न कोई निकाल सकता उसका अपना कोई होना नहीं है अगर उसके साथ कुछ भी करना हो तो आत्मा के साथ कुछ करना पड़ता है आत्मा की अनुपस्थिति है अहंकार आत्मा की एब्सेंस है अहंकार जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है वैसे अहंकार आत्मा की अनुपस्थिति है अहंकार के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता लेकिन अहंकार के साथ हम दो काम करते हैं हजारों वर्ष से करते रहे एक काम तो है अहंकार को भरने का उसकी कथा वही है जो उस भिक्षु की कथा है और उसके पात्र की भरते हैं भरते हैं भरते हैं भरते भरते खुद मिट जाते हैं और पाते हैं अहंकार नहीं भरा वो वहीं के वहीं उतना का उतना वैसा का वैसा खाली है क्या आप सोचते हैं सिकंदरों नेपोलियनों हिटलरों के अहंकार भर जाते नहीं सिकंदर ने मरने के पहले दुख जाहिर किया था उसने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं भगवान बहुत अजीब है इसने केवल एक ही दुनिया बनाई कम से कम दो तो बनानी थी ताकि कोई आदमी जीतना चाहे तो दो दुनिया जीत सके एक ही दुनिया केवल एक दुनिया है जीतने को सिकंदर को दुख था कि कम से कम दो दुनिया होनी चाहिए कम से कम दो तो